ਰਾਮ ਬਾਈ ਲੋਥਾਰੀ ਪਿਵਰੀ ਸ਼ਾਨਾਂ ਨੇ ਭਰਿਚ ਮੈਂ ਪਾਈ ਮੈਂ ਕਾਈ ਭਈ ਤਲੀਆਂ ਸੂ ਰਾਜ ਲੈ ਤੋੜੇ ਲਾ ਜ਼ਰ ਤਲੀਆਂ ਗਣੀ ਖਮਾ ਤੋੜੇ ਲਾ ਤੇਰੀ ਤਲੀਆਂ ਸੂ કતવાર્યા પડ્યો શ્યામ બાદ પીર બકણ મલા કે હે લે આપો ઘણા કે જે આપરા આપરો બત તો શેલ કે પીર મારો બડો રવા શેલ કે પીર બડો કે કોની શેલ આપણો બડો હેની રાણી રાઠોડ પીર લે આ ગડલો કા રાતીર પૂરી સાંડિયા શાંડિયો ઉડ જા કેલમાં બાઈ સાણ્યા ખલે ને કીજે ચમકાઈ હડ ખાગી વણ કી બત્તી બોરડ્યા બોરડિયો હા બોરડી આ લાગે મિશ્રી મીઠાઈ કીજે બોર ભેટા નવડા દુ કાકર હરે ઈ કીજે બાપન ને બાપને રોચ્યા કેલમે બાઈ સાણ્યા કેલા ને કીજે ચમકા તલે હું થોડે નંદના કા ગુલાબી ચંદન હે કીજે તાકળા તાકળો હરતા રમતા બોલ્યા કેલમ નહીં બોલ કે મેણા રખાયા રાતીર બુરી સાંડેરા શાંડિયો चिदनी काका जी प्योर गडलंकारी राती रिपुरी शान के उम्र का लग दिया नंदा मजा जा गणाई कीजे मैं वाला મેવણો कोट की केलम भाई आंगल शिव मरो हट जाओ बेटा बादल दुखते ही कीजे मैं हला आंसू रलका कायर जंगली ही मोर जियो મોર Ölüsünde श्रवण मिनो लगो माई मन भी હૃદયોળું થારી આવે ભીર Hare Hare ਨਹੀਂ ਜਾਣੂ ਬਾਈ ਸਾਹਿਬ ਮੈਂ ਤੇ ਮੱਲਦੀ ਰੋ ਘਰ ਬਾਹਰ ਕਿਤਰੇ ਸਾਂ ਪਟਵਾਰੀ ਨੇ ਦੇਖੇ ਓਲਕਾ ਓਲਕਾ ਸੁਰਜ ਕੇ ਸਾਮੀ ਇਹ ਨਹੀਂ ਪਟਵਾਰੀ ਕੀ ਪਟਸਾਲ ਕਲਾ ਕਾ ਜ਼ਬਰ ਕਾ ਪਟਵਾਰੀ ਕੇ ਰੰਗੀ ਲਈ ਰੋਬਲ ਰੋਬਲ ਹਾ ਕਰੀਆ ਮੱਲਾਂ ਦੀ ਦਰਸ਼ 16 32 ਸ਼ਿੰਗਾਰ ਜਾਵੇ ਅਗਲੀ ਵਾਰ ਪਟਵਾਰੀ ਨੇ ਲਈ ਕਿ ਜੇ ਮਾਰਤੀ ਮਾਰਤੀ ਜੇ ਪਟਵਾਰੀ ਦੋੜ ਬੇਗਰਾ ਹੀ ਕਿ ਜੇ ਸਤਾਤ ਥਨੇ ਬੁਲਾਵੇ ਬਾਈ ਸਾਰੰਗ ਕਈ ਰੋਬਲ ਰੋਬਲ राहुल को नाम लियो धड़कतड़ी ओ पटवारी ने शियो गणो की जेता लगती जिलबेट काली पीली खेजड़ी खेजड़ी तेजरी हो खेजड़ी की दिया ओ पटवारी ने शियो ताव लगती जिलबेटी काली पीली तेजरी बनी गणी आया रानी राठौड़ कोई बाप दादे रो खाड़ो खतने का आयो तो गाल गाने में तेल पड़ा ना गाड़ी दे हीरा करे दासी थारा मंदिर की जे बात कतरे कमला पटवारी ने मानसी भेज दियो God कार्य ओटाला उक्ति कन्या को सूरज की जे देह करके कामला पटवारी तना मानस की जे भेजी ओ एक कोरो कागल लीजिए हाथ एक लेखनी हो लीजिए हाथ लिखवा पटवा काम बुला रंगीले ई रावल रावल यो रावल को नाम लियो अब लिखवा पटवा को नाम लियो या भूखा ब्राह्मण को लापी ब्राह्मण आले जो हाल यो कहीं लेखने वाले वेर कहीं केलम के साथ में जावेर कहीं भारता में जावे देखने के दो Thank you. করবে रल गया समय ಚಟಕಾಜೆ ನಾಮ ಆದ್ರಿ ಶಬರಾಜೆ ನಾಮ ತೆಲ್ದೇರು ವರ್ತೃಪವ ಜಂಗನಾಯಿ ನಾಮ बेटा केलम भाई राजा लम के जिधर बाहर भरी कचरे आन ललकर मुद्रो ही कीजिए शाह जियो शाह जियो कह दीजिए भाई शाह तारा मदल की कीजिए बात कतरा कामणला पटवारी ने मानस की कीजिए भेजिया काम कार्यो टड़क तिकना को सुरद कीजिए देव करके कमला पटवारी इतने मानस यात्रा थोक निकरे भाई खजा मर्जा पेट कतर वो खाए बढ़ती जलती देवे पाल पाबू ने शराब शराब का मारे शराब पकोड़िया हुई જવે ये ना तायड़ छड़ल किया समता ना सात गणी की इस्लाम बिच में ना लग दिया रात तेरी पूरी सांड का लक कागदियो लियो सुनी जे मैं गाल मार्ग बुझे कोड़ू को डवही की जे जीवनो જીમડો डवो डवो मर गयो जवे गलो तरी की जे गिरनार जीवनो मर गयो हाव कोड़ू ने हिदोई જવે ਕਾ ਕਾਇ ਤਾਰਾ ਤਾਰਾ ਜਿੱਲੇ ਮੰਦ ਲੜੀ ਕਿ ਜੇ ਰਾਤ ਕਾਇ ਪਤ ਮਾਰ ਕੇ ਜਿ ਲਓ ਦੇ ਵਾਰ ਇਹ ਕਾਇ ਇਹ ਕੱਲੋ ਕੈਦੋ ਦੇ ਕਣੀ Oh, <laughs> தெரியோல ஜீவ காய் பணிரா ધડાઉ પાલ ગેરો દી ધડાઉ ખમ્મા ગેરો ધડાઉ પાલ ગેરો દી ધડાઉ ધનો કોળું કોડાવઈ જીવણો જીવણો દવા દવા માર ગયા જવે ગલો ધરી ખીજે ગિરનાર જીવણો માર ગયો હાવ કોળું ને હિદોઈ જવે तना तना ले मंदरी रात फतमार के दिल ओढ़ दनो एक एकलो एकलो ये तू वर्षा का गल मल गल मार्ग रे कि जी पाचा पंद्रह मट कोलू पर छोड़े पगाने रागड़ा रागड़ा दी पागड़ा पागड़ा ओ पागड़ा वाह ತಣತಿಳುಬಟೋ ಪಾಲ್ ಪಗುರ ಜಲ ಮಕ ಜಿದ್ರವಾರ್ ಭರಿ ಕತಿರ ದಾರ ಲಲ್ಕರ್ ಮುಜರೋಯಿ ಶಾದಿಯೋ ಶಾದಿಯೋ कट सो बसरे अलकर आदेश की जे बास की रोक नहीं आयो बुरगड़ी की जे कोट में कोट में सामने नरणवा नील करे दौड़े रो घर की जे गांव केलम भाई रोक नहीं आयो बुरगड़ी कोट में कोट में या हे ना ता तर बेटा पाल पाऊ का जलम के दरबार अत में ओ मैं ना काग भी की ना की ना कियो बड़ते कागज ने लियो चंदा जी आता है कि जेल अटे कागज का आंखा ना देख बड़ा बड़े सिर मत ही कि ढूंढियो ढूंढियो हे चनार साउंड काई गलो मरो ल जीव के काई सबलाऊ कोई थूक जे मानियो ये बाजी ने गलो मरो ल जीव के निस बलाऊ कोई मुंह मानियो क्या यो ल कर दड़ने घणो जरऊ में क्या के कागज ने बजो नाडी घणो की खाबेड़ा खाबेड़ा બસ સૌ કાગર ના તોશીર ખાના નકાય દો તડકે બડી ફજર પાંચ માય દેહું सना चंद्र बाण राड का योग ताड़ो का योग तापटो का योग मरवा का योग जीवा का योग कागज भाष निरण से जो मार को मार बाण सुना ये दो दगणी ये हे नाता आधी रात आगली आधी रात पातली दुर्गट का बाजरिया तेली सगया तमली सगया कांगा उधर से कागज मात सुना ये देवा देवा ये sana man khol de bal bal ki de man balam birad bamun khada ka bir tir ma birad sost mata hi ki de zognya zognya ya bara kosam wala bala ka uja tera kosam sulud ghai ki sanana sanana खोल दियो हाँ बालक का एक दिन आल का बालक का उधर से बराबर कागज की बांचियो बांचियो हे बाप जी बेटी जाइए तुम्हारा हारे गिया गिया देखने सनात निर्वाण करे मन के माने भोली बात आती स्त्री का मुख नहीं देखा जाति की पीठ नहीं देखा के दिन बेटी जाए के दिन जमारो हरवा क्या आप नहीं जाए तो आपका बड़ोड़े भाई बड़ो जी जाए जिंदन पढ़ाया केलम के ने आधीव दिखा देना आपकी लाडली जुबान देनी कहीं करी घटानिया नहीं हांडिया हांडिया क्या हांडिया तो कर भाई हांडिया मंगावे वेचना सावंत काल हांडा कोने पुगी करना था गाय भैंस थोड़ी सी कोई गांव की घेर उठ कर लेवा वाह सनार सावंत मांडो भवर घोड़ा पर जीन खेत खेत घोड़ा खड़ा ले हमारा तीर बुरी सांडिया सांडिया ये बात लंका जे गुणी एक अतुणी है वाई मालूम है कि चंदा सावंत बा मालूम तो माने कोने या बेली तो रोम मंगा और पत दे गई मार गाला उड़ा देख लो देखड़ी अरे तो कोण जावे का तो चनाजी थे जा के जावे ते मुझे दे मुझे किकर का बाज या बना मन खावे पक्की आप कमान तेरा मन छोला फूल गणा के जे सुनते रहा वशव तुम पाप को टापरो वाल डैमेज की चलम कमान चल में थोड़ा जन थोड़ो डैमेज को अमल हो गया थोड़ो रात कोई हो ओए ओए थारी ने डक कन्या का गलटका करे बूता का फुले करे के तो डैमेज जा के चनाजी आपने जानो पड़े पड़ेला સાંધોજી મન મેં વિચાર કર્યો ધણી ને કલ્પતાઈ સ્વામી કળા કમાન દેવા ડાલ દે બાવજી સાંધોજી કરી લકા કે મને કણવા રે ઓ દેવડો ઉમલી મુલટ લાટાઈ કે લાટિયા લાટિયા ઘડી મેં ના કહે દે થપેડા કી કોશ કોશ બાતા જીમ ગાદ को मन तो जाता है पहले पितान लेके फैल काला डाकी बड़ा हाँ ये को क्या पांच पाना को बिड़ो दे दे धवल शक्ति रे की जी याद पर ये दरबार कंकाली बिड़ो फेर दे दुकानदार जेल दुकानदार हालो जय कहीं पांच पाना को बिड़ो दे वल्ला भाई रे याद क्या कहीं सरदार की जान में बिड़ो फेर कहंदा तार तो के तार मोतेंगी माला होने की कह दो दे तो गणी बार कह दे बार कह दे लुली लाता मारो को नकती जा हलवा को हवामण की नत फेरे कोन जी पहले Ты даже मुकड़ो भणियो में यो भला ने भलाई मिले कटपतिया ने गांव बुका भजन मिले पाल पाऊ रही थान या भला नाम जुड़ी सबारा भला नाम विषदरे धराई नोम नोम या पांच पंद्रह हो बिडो देवलर बिरई याद के बरे दरबार कंकल ये तो बिडो की जी फेरियो फेरियो क्या फिर क्यों लंका जी को बिडो जजम की इच्छा की जे कूट एक डाल की ओट बैठ वाला एक डाल की ओट मरवाला लंका जी को बिडो जलवा कोई नरी छाती जा दर्जी को बेटो दादन का अल्लाह करे बालकी का कोरिया कोरिया क्या कितो बेटो ओ नीचे ना जा सब सिरदार का बेटा ऊपर देखो लाज आते जरो को बेटो बिल बेल मारे करे बालकी का खिड़किया खिड़किया या ढाल की ओट बेट वाला एक ढाल की ओट मर वाला लंका जी को बिड़ो झेलन री कोई नरी छाती नी कोने क्या फिर क्यों लंका जी को बिड़ो दादम की चारों की जे कोट बाल तबीड़े ने वासिंग देवा से आता है कि जेल लियो जेल लियो Zat parabidana lega pagameta kemkro kamlayo kamlaka katai फूल में जग प्राबिडन हो गया मन के मन उदा अच्छा माता का घराना गावे शीघ्र तिथि से पाऊं पावना निग देवाचीर मल मेला बिरंगा थाराई किजेबे जा काई लड़े हो पाल पाउरा खान किजे प्रदान काई भालो भजन बुका राखिया राखिया नींद्रिया है सिलम के जने पाल पौरा खान के जय प्रदान कनी भलवा बदन बुकाई रुकिया क्या सॉरी मन दुदारा खंडरी किज दार अब की बड़ा दिन लंका जी सा टिकने की जा करी चाकरे लंका जी को नाम लेता है सुन रे देवासी लंका जी में देत भूत का राज निका जड़ा हड़करे करे सरपगा करे लुगाया ही नेत्रा नेत्र लंका जी गियोड़ा तो बिराज रे काला ही काग पाता तो को निभाव है हाँ, छोड़ दे तू बाल बहू का बाट के बाट बसा दिवसाना सिरदार मत हमारी चोट कोटड़िया पड़ेरा टोड़ा की जेरे द्वार के चोट कोटड़िया का मन मन शानो सिरदार एक ही कोनी लल्लो क्यों शाना सिरदार की आग बूढ़ो जी रम जाए कोनी पराई बात बुझो कोनी कमाने महल में पड़े को पड़े ये ले जा क्या पहली का बेटी बेटा का मात पिता को क्यों करता बंगा न कह दे कुमारा का जाओ बेटा लुवारा का कह दे लुवारा जाओ बेटे खाते के क्या देटां पर ले देट पहले काटती बो हूं टाब काटे देवरी जेट करा तो अपना मन की अपने मात पिता के तो जरूरी करा करना क्या काई समावा देवासी बच के लोमा जमाले की जितरवार काई बूढ़े जी के जावे काई बूढ़े जी के जागण देवासी के बाता मने है काई हाथा बच के दो देखण बार के दो हमार के ने बोलडी तारी उगे कोन लुली लाता हमारे कोन बोकड़ी टा शेर चनो सब कोन ऑल डॉट जी पे ले लो ਪਹੁੰਚ ਗਏ ਆ ਤਾਂ ਬੁੜੇ ਦੀ ਸਰਦਾਰ ਨੇ ਸਰਦਾਰਾਂ ਨੇ ਹੂ ਹੁਦਾ ਬੈਠਾ ਬੁੜਾ ਠਾਕਰੀ ਆਵੇ ਨੈਣਾ ਮੈਂ ਥਾਨੇ ਹੀ ਕਿਦੇ ਨੀ ਨੀਰ ਕਾ ਬਾਬੂ ਕਾ ਸਮਤਾਉ ਬਾਜੀ ਤੇ ਡਿਲੀਵਰੀ ਦੇ ਜਾਜਮਾ ਜਾਜਮਾ ਆਵੇ ਜੀ ਕਾ ਨਾ ਆਵਾਜ ਜੋ ਗਲੋ ਤਰਾਣੀ ਤਿੰਨ ਬੋਲ ਬਾਰ ਕੋਡ ਦਿਆ ਕੇ ਬਾਬੂ ਤਿੰਨ ਬੋਲ ਬਾਰ ਕਿਆ ਕਹਾਓ ਕਿ ਉਹ ਡੂ ਆਪ ਕੇ ਕਰੰ ਕਰੇ ਜਾਵਰ ਢੁੱਲੇ ਕੀ ਨੌਕਰੀ ਤਾਂ ਆਟ ਮੁਕਤ ਗੁਜ਼ਾਇਆ ਹੀ ਚਲੋ पकड़ मेल को साधो कचड़ी जोड़ विराजमान हो गया तड़दुर बेटा बूढ़ा बाबा का तलम के दरबार भरी के चढ़ा आना ललकर मुद्रो की जो शाजियो शाजियो आगो आजा निरा खान के जे प्रदान कितरे कमल आयो बाब जी ढलवड़ी जिसरी काम कार्य टड़क तिकना को सूरज की जे देव के कमल आयो बूढ़ा जी थाना की जे कोट में कोर्ट में सड़ा में पाल पाऊ का बास के बास बसार शना श्रीदार को क्या जी रे तांजी बस तां की बात को सरकार में घाटो को ने खूब खाओ और खूब उड़ाओ और खूब मौज करो देल गोड़ी देल गोड़ी का फूल पिचर आठ भगत खुरा घाटी करो की बात को सरकार के मायने घाटो को ने पांच हाथ के ले जो एक ले हाथ के मायने खुरपी खुरपी क्या बड़ोड़ा तलाव के मायने जाओ क्या संगी पोट बांध परा और थाके माथे पर मेल अरे बेचारा माथे चढ़ा जी दोबड़ी की पोट बेचारा माथे मेल दी कमर भाग जय क्या दोबड़ी ले हर बकरी में ना दौड़ घोड़ा ने हुके ठाण बांध दो क्या एक बात ये बंदा जान लाल लिंक थाने घूपो झूपो झूपो एक बंदा जान थाने झूपो क्या तो काम पड़े को नहीं के काम पड़ जा दस बीस पावना को कर रोटियां की जेठ लाल गलियां पुगा दे रोटियां थाकाले शोभा उड़े दी ठाकरा की बधाई जय के मुड़ा जी कर मोटो के बिराज आदम थूरी जी आदम मेरे मैं के ए मुड़ा जी के माकाले पेट की तनका काय करियो बिराज कनका डोर को होत होत एक पियो डोर को लाग एक पियो कनका को लाग खानले मेल पड़ जे कनका पतंगा खूब उड़ाई जज ये बिड़ा दी बे किनका डोर नहीं माकाला पेट की तिनका तिनका ये <laughs> तिनका को कहीं सोच करियो बार बार दौड़ता दौड़ता ला जा बुढ़े बाबा के डाय ना आए तो एक मोदी को नजार डबुसा टकुदरा आए दो याद पिया तो लिखवा पड़वा को मोदी ले ले वे याद पिया उबड़ जा तो कि मालूम समोग ले आ रही गोरे कट्टम खा दीजिए थूई पीजे मेरी घोड़ा કે વડાદી કે ઘર મોટો કે બિરાજ આદમ થુરી જે આદમ આદમ મે હે વડરા ઠાકર કે ખમા કાઈ કે ઉવાયા યે કે બાટા કાઈ કે ભૂકંપ તો ઘર કામ પર ટીંગરી ઠીક યે કે વડવા કાઈ કે ભૂકંપ ડપરુ માખ્યા દેવાંતિન